صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رسول الله नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम ईमान की सलामती के लिए आपने एक दुआ अपनी उम्मत को सिखाई कि अक्सर आप ये दुआ करते या मुकल्लब क़लूब सबित कलबी अला दीन हजरत उम्म सलमा रदी अल्लाह तहा फरमाती हैं कि सबसे ज़्यादा इसी दुआ को करते हुए मैंने सुना जिसका तर्जमा है या मुकल्लब अलकलूब ए दिलों को फेरने वाले सबित कलबी तो मेरे दिल को साबित कदमी दे अला दीनिक तेरे दीन पर हजरत अनस ने फिर पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप खौफ महसूस करते हैं हमारे ईमान के बारे में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस को भी तहफ़ ईमान की फ़िक्र अता फरमाई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ हम सब मिलकर दोहराते हैं तो आप मेरे साथ मिलकर आंखें बंद करके ये दुआ करें अल्लाह हमें ईमान की सलामती नसीब फरमा या मुकल्लिबल कुलूब सब कलबी अला दीनिक या मुकलिबल कुलूब सबित कलबी अला दीनिक या मुकलिबल कुलूब ثبت قلبي على دينك صلى الله عليه अब आज जो तीसरी नशिस्त है उसमें सबसे पहला मसला हम तकदीर का मसला समझेंगे पहली बात तो ये समझ लें कि कुछ चीजें हैं ईमान लाने के लिए और कुछ चीजें हैं अमल करने के लिए तो जो चीजें ईमान लाने के लिए हैं उस पर हमें ईमान रखना है और जिन चीजों पर अमल करना है उस पर हमें अमल करना है अब ईमान लाने वाली जो चीजें हैं उसमें बास चीजों पर गौर व फिक्र करना है और बास चीजों पर सिर्फ क्या हमें लाना है ईमान लाना है मसला कुरान की हर आयत पर ईमान लाना जरूरी है कि नहीं जरूरी है अलिफ लाम मीम पर ईमान है अलिफ लाम रा पर ईमान है सौद पर ईमान है कौफ पर ईमान है काफ या आइन सौद पर ईमान है ये तमाम हरूफ मुकदात पर ईमान है लेकिन सोचने की इजाजत है गौर व फिक्र की इजाजत है नहीं सिर्फ ईमान है बस अमन तो बिल्ला हम अल्लाह पर ईमान लाए और अल्लाह की तरफ से जो भी वही नाजिल हुई उस पर भी हमारा ईमान है गौर व फिक्र अगर करेंगे तो उसमें नुकसान है और बसा अवकात इंसान तबाह हो सकता है इसी तरह तकदीर का जो मसला है अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से है जो हो गया जो हो रहा है जो होने वाला है सब अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया जो लिख दिया वही होगा इस पर हमारा ईमान है लेकिन इसमें गौर और फिक्र और बहस की इजाजत नहीं लेकिन हम ये देखते हैं कि लोग अपने जुमलों में लफ्ज तकदीर को और नसीब को इतना इस्तेमाल करते हैं कि बसा औकात कुफर बग देते हैं तो हमें क्या करना है हम अपनी गुफ्तगु में लफ्ज तकदीर नहीं लाएं तकदीर पर हमारा ईमान है कि अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह ने लिख दी जो लिख दिया वही होगा रसूलुल्लाह ने फरमाया कलम लिख कर खुश्क हो गए और जो लिख दिया वही होने वाला है ये हमारा ईमान है लेकिन गुफ्तगु के दौरान अपने जुमलों के अंदर तकदीर और नसीब का लफ्ज इस्तेमाल ना करें और इस पर कोई बहस करे तो कहे जनाब इसमें बहस करना हमें मना है हमारा ईमान है जहां तक ताल्लुक है तकदीर पर भरोसा करके नेक अमाल इख्तियार ना करना तो हमें ऑर्डर क्या दिया गया हमें ऑर्डर है तकदीर पर ईमान रखो और ऑर्डर यह है कि अच्छे काम करो तो जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उस पर हमें अमल करना तकदीर पर ईमान रखना है और हुक्म क्या है अच्छे काम करो बुराई से बचो तो हमें बुराई से बचने की कोशिश करनी है अच्छे काम करने हैं रोजी की तलाश करनी है अच्छा काम हो जाए तो कहें ये रब की इनायत है रब का करम है हमारी कोई ताकत नहीं और गलती हो जाए नुकसान हो जाए तो कहें कि ये हमारे नफ्स का कसूर है ये हमारा कसूर है हमारे गुनाहों की नवसत है अच्छा काम करके अपनी तरफ नस्बत करना ये अच्छी बात नहीं और बुरा काम करके अल्लाह की तरफ नस्बत करना या तकदीर की तरफ नस्बत करना ये अच्छी बात नहीं तो ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हमें तकदीर में बहस करने से मना किया गया हमें तकदीर पर ईमान लाने का हुक्म है और दूसरा हुक्म क्या है अच्छे काम करो तो हम आंखें बंद करके मतलब ये कि दीन के काम करें अच्छे काम करें रोजी की तलाश करें और तीसरा हमें हुक्म क्या है अच्छा काम हो जाए तो अपना फख्र न जताओ बल्कि क्या कहो ये रब की इनायत है रब का करम है और बुरा काम हो जाए तो कहो कि मेरा कसूर है ममा असाबकुम मिम मुसीबत इन फबीमा कसबत ऐदीकुम तुम पर जो मुसीबत आती है तुम्हारे गुनाहों की वजह से आती है तो ये हमें जिंदगी गुजारने का जो तरीका उसलूब जो है बताया गया तो आइए सदर शरिया बदर तरीका हजरत अल्लामा मौलाना मुफी अमजद अली खान अल रहमा अपनी किताब बाहर शरीयत में तकदीर के मुतालिक जो लिखते हैं उसे हम पढ़ते हैं और देखें उन्होंने तकदीर के मसले को किस तरह आसान अंदाज में समझाया है आप फरमाते हैं हर भलाई बुराई अल्लाह ने अपने इल्म अजली यानी अल्लाह ताला हमेशा हमेशा से जानता है कौन क्या कर रहा है कौन क्या करेगा और क्या होने वाला है अल्लाह हमेशा से जानता है अपने इल्म अजली के मुआफिक मुताबिक मुकद्दर फरमा दी मुकर्र फरमा दी हर भलाई बुराई अल्लाह ने अपने इल्म अजली के मुआफिक मुकद्दर फरमा दी यानी जो उसका इल्म है अल्लाह का इल्म हमेशा हमेशा से हम तो करके मालूम होता है कि ये काम हो गया अल्लाह हमेशा से जानता है कि ये हो रहा है ये होने वाला है ये होगा तो जो होने वाला था अल्लाह ने पहले ही लिख दिया यानी जैसा होने वाला था और जो जैसा करने वाला था अल्लाह ने अपने इल्म से जाना और वही लिख लिया तो ये नहीं कि जैसा अल्लाह ने लिख दिया वैसा हमको करना पड़ता है बल्कि जैसा हम करने वाले थे वैसा अल्लाह ने लिख दिया मसलन डॉक्टर ये कहे कि ये आदमी छह महीने में मर जाएगा तो डॉक्टर के कहने से मरा नहीं है बल्कि वो मरने वाला था डॉक्टर ने अपने इल्म नाकिस से जाना कि सेहत जिस अंदाज से गिर रही है छह महीने में ये मर जाएगा डॉक्टर का इल्म नाकिस है हो सकता है उसकी गलती हो जाए छह साल तक वो जिंदा रहे लेकिन रब्बुल आलमीन का इल्म अजली अबदी कदीम है वो हमेशा हमेशा से जानता है क्या होने वाला है तो इस जुमले पर फिर गौर करें फरमाते हैं ये नहीं कि जैसा उसने लिख दिया वैसा हमको करना पड़ता है बल्कि जैसा हम करने वाले थे वैसा उसने लिख दिया जैद की तकदीर में बुराई लिखी इसलिए कि बुराई करने वाला था ये जैद जैद मुस्तकबिल में फ्यूचर में बुराई करने वाला था तो अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया कि ये ये काम करेगा अगर जैद भलाई करने वाला होता वो उसके लिए भलाई लिखता तो उसके इल्म यानी अल्लाह के इल्म या अल्लाह के लिख देने ने किसी को मजबूर नहीं किया तकदीर के इनकार करने वालों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत का मजूस बताया यानी आपने फरमाया ये इस उम्मत के मजूसी होंगे तकदीर की तीन किस्में हैं एक को कहते हैं मुबरम हकीकी एक को कहते हैं मुआल्ला के महज और एक को कहते हैं मुबरम हकीकी के मुशाबे तो पहली है मुबरम हकीकी वो अटल है उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती पहली तकदीर की किस्म क्या है मुबरम हकीकी वो अटल है उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती दूसरी है मोल्ला के महज वो ये होता है कि फरिश्तों को कहा जाता है मसलन हजरत मलकुल मौत सलात वसलाम को हुक्म दिया गया कि फलां की रूह आपको छह दिन के बाद कब्ज करनी है लेकिन उन्हें बता दिया गया कि अगर कोई इसके लिए दराजी उम्र की दुआ करेगा तो इसकी उम्र लंबी हो जाएगी और नहीं करेगा तो फिर छह दिन के बाद आपको रूह कब्ज करनी है अब अगर किसी ने दुआ कर दी तो उम्र लंबी हो जाएगी जैसे हजरत मलकुलमौत सलात वसलाम हजरत दाऊद सलात वसलाम के पास गए जिसे इमाम फ़की अबुल्ल समरकंदी कंदी रहमा ने कुर्रतुलयून में लिखा हजरत मलकुल मौत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास गए तो एक नौजवान आया था उसकी शादी हुई थी और वो अपनी जौजा के पास जाने से पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास दुआ लेने के लिए आया जब वो आपसे मुलाकात करके बाहर निकला तो हजरत मलकुल मौत ने कहा कि छह दिन के बाद मुझे हुक्म है कि मैं इसकी रूह कब्ज कर लूँ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बड़े रंजीदा हुए और आपने सोचा कि इतना प्यारा नौजवान कि शादी के बाद वो मेरे पास आया और हुजराए उरूसी में नहीं गया तो आपको अफसोस हुआ कि अब उसकी जिंदगी में छह दिन बाकी हैं लेकिन यह नौजवान आता रहा और छह दिन गुजर गए लेकिन उसकी मौत वाक़ नहीं हुई फिर मलकुल मौत सलाम कुछ अरसे के बाद आए तो हजरत दाऊद सलाम ने फरमाया आप तो कह रहे थे कि छह दिन के बाद इसकी रूह कब्ज करने का ऑर्डर है ये तो कितने महीने हो गए ये तो आ रहा है इसकी रूह तो कब्ज नहीं हुई तो हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये नौजवान जब बाहर निकला तो इसे एक जक़ात का मुस्तक मिला वो गरीब शख्स था और जक़ात का मुस्तक था उसने उसे जक़ात दे दी तो जब ये जक़ात उसे दी तो उसकी जबान से जुमला निकला अल्लाह ताला तेरी उम्र में बरकत अता फरमाए अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल फरमाई और इस नौजवान की उम्र में साठ बरस का अल्लाह ने इजाफा फरमा दिया तो यह है मोल के महज के फरिश्तों के रजिस्टर में लिखा होता है कि अगर ऐसा हो गया तो तब्दीली हो जाएगी लोहे महफूज पर लिखा होता है कि ऐसा हो गया तो तब्दीली हो जाएगी तीसरी सूरत है जो मुबरम हकीकी मुशाबे है तीसरी तकदीर की किस्म यानी लोहे महफूज पर लिखा होता है कि यह होगा लेकिन साथ में ये नहीं लिखा होता कि फुला की दुआ से यह टल सकता है फरिश्तों के रजिस्टर में होता है कि फुला तारीख को उसके साथ ये मामला होगा लेकिन उनके रजिस्टरों में यह नहीं लिखा होता कि अगर कोई दुआ करेगा तो ये टल जाएगा लेकिन अल्लाह जानता है और अल्लाह ने मुकर किया है कि कोई खास अल्लाह का वली दुआ करेगा तो अल्लाह ताला उसमें तब्दीली फरमा देगा इसे कहते हैं मोल्लक शबीबा मुबरम यानी ये मुबरम हकीकी के मुशाबे है और ये अल्लाह के नेक बंदों की नजर से और दुआ से ये टल जाती है जैसे कि मुजद्दिद अलिफसानी अल रहमान आपके दोनों साहिबजादों के बारे में तफसीर मजहरी में है कि आपके दोनों साहिबजादे जो हैं एक उस्ताद से पढ़ते थे और उन्हें अपने उस्ताद से बड़ी मोहब्बत थी तो एक दिन मुजद अलिफसानी रहमान ने फरमाया कि तुम्हारे उस्ताद की पेशानी पर लिखा हुआ है कि इसका खात्मा कुफर पर होगा तो दोनों जो शहजादे थे वो मचल गए उन्होंने कहा कि आप दुआ करें कि अल्लाह ताला इन्हें सईद बनाए खुशबख्त बनाए तो आपने कहा अच्छा मैं लोहे महफूज पर नजर करता हूं और तफसीर मजहरी में है कि फिर मुजद अलिफसानी रहमा ने नज़र फरमाई लोहे महफूज पर तो आपने फरमाया लोहे महफूज पर भी लिखा है कि इसका खात्मा कुफर पर होगा तो उन्होंने कहा कि हजूर गौसी आजम ये फरमाते हैं कि मैं तकदीर मुबरम हकीकी को यानी जो तकदीर मुबरम हकीकी के मुशाबे है मैं उसको टालने वाला हूं तो आप हजूर गौस आजम का वसीला दें और दुआ करें हो सकता है लोहे महफूज पर लिखा हो लेकिन ये अल्लाह के इल्म में मुल्लक हो यानी अल्लाह ताला ने अपने इल्म में इसको मुकद्दर किया हो कि अगर कोई ख़ास अल्लाह का वली दुआ करेगा तो अल्लाह ताला उसे टाल देगा तो आपने हजूर गौस आजम का वसीला पेश किया और मुजद अलिफसानी ने दुआ की और फिर आपने तकदीर पर नज़र फरमाई लोहे महफूज पर और उसकी पेशानी पर तो फरमा मुबारक हो तुम्हारे उस्ताद के लिए शहीद लिख दिया गया तो ये क्या है ये वो तकदीर है कि जो बज़ाहिर देखने में मुबरम हकीकी महसूस होती है लेकिन वो मालक है तो मुबरम हकीकी के मुशाबे है तो तकदीर की तीन किस्में हो गई तो जो पहली किस्म है अटल तकदीर वो अटल फैसला होता है और उसमें कोई तब्दीली नहीं होती अब ये कायदा है कि अगर अल्लाह के नेक बंदे ऐसी तकदीर के बारे में दुआ करें कि जो अटल हो तो उन्हें बता दिया जाता है कि ये तकदीर का फैसला अटल है तब्दीली नहीं होगी आप दुआ ना करें जैसे फरिश्ते कौम लूत पर अल्लाह का अजाब लेकर आए तो हजरत इब्राहिम सलाम ने दुआ की और अल्लाह की बारगाह में अर्ज की के मालिक मौला कौम लूत से अजाब को हटा दे तो उन्हें बताया गया कि यह तकदीर का अटल फैसला है और इसमें तब्दीली हरगिज न होगी तो हजूर गौस आजम रजी अल्लाह का ये जो फरमान है कि मैं मुबरम मैं कज़ाए मुबरम को रद्द कर देता हूँ तो इससे मुराद यही है कि वो कज़ा के जो मुबरम हकीकी के मुशाबे हो यानी जो अल्लाह के ख़ास बंदों की दुआ से वो टल सकती है इसी तरह इन दुआ या रुद्दुल कदा बाद मा उब्रिमा बेशक दुआ कजाए मुबरम को टाल देती है इससे मुराद भी यही है जो मुबरम हकीकी के मुशाबे हो जब ये आपने समझ लिया तो पता चला कि तकदीर की कितनी किस्में हुई तीन एक अटल है और बाकी दो में तब्दीली हो सकती है तो बंदे को चाहिए दुआएं करें नेकी और खैरात करे अल्लाह की राह में सदका दे क्या मालूम कि उसकी बरकत से अल्लाह तबारा का वाली आसानी अता फरमा दे तो इसलिए हमें तकदीर पर ईमान रखना है और इस बात पर ईमान रखना है कि जो तकदीर अटल है उसमें तो कोई तब्दीली नहीं होनी और बाकी जो तकदीर की दो वो किस्में हैं अल्लाह ताला चाहे तो उसमें रद्द बदल फरमा दे और हमें अच्छा अमल करना है बुराई से बचना है आगे फरमाया कि तकदीर के मसाइल आम अकलों में नहीं आ सकते इनमें ज्यादा गौर व फिक्र करना हलाकत का सबब है हजरत सिद्दीक अकबर और हजरत फारूक आजम इस मसले में बहस करने से मना फरमाए गए तो हम और आप किस गिनती में हैं जब सिद्दीक अकबर और हजरत उमर को मना कर दिया गया उन्हें तकदीर के मसले में बहस से मना किया गया तो मैं और आप किस गिनती में हैं तो हमें तो बिल्कुल इस पर गौर और फिक्र और बहस हरगिज नहीं करना चाहिए इतना समझ लो कि अल्लाह ताला ने आदमी को पत्थर और दीगर जमादात की तरह बेहिस और हरकत नहीं पैदा किया जैसे पत्थर है तो वो बिल्कुल हरकत नहीं कर सकता अगर हम ठोकर मारें तो वो जाता है अल्लाह ने इंसान को ऐसा नहीं पैदा किया बल्कि एक तरह का उसे इख्तियार दिया है वो एक काम चाहे करे एक काम चाहे न करे इसके साथ ही उसे अकल भी दी है कि अच्छे बुरे नुकसान और नफे को पहचान सके हर किस्म के सामान भी उसे अता कर दिए जब इंसान कोई काम करना चाहता है अगर अच्छा काम हो तब भी और बुरा काम हो तब भी अच्छे का इरादा करे तो अच्छे के असबाब मुहैया हो जाते हैं और बुरे काम का इरादा करे तो उस किस्म के सामान मुहैया हो जाते मसलन एक शख्स को चोरी करनी है और वो चोरी का इरादा करता है तो उसके हाथ में अगर अल्लाह ना चाहे तो कुवत आ सकती है उसके हाथ पर फालिज पड़ जाए पाँव पर फालिज पड़ जाए लेकिन वो देखें वो अपने हाथ को इस्तेमाल कर रहा है अपने दिमाग को इस्तेमाल कर रहा है वो अपने पाँव को इस्तेमाल कर रहा है तो ये जो इसके पाँव चल रहे हैं इसके हाथ चल रहा है इसके इरादे की वजह से चल रहे हैं तो इस इरादे पर उसकी पकड़ है और अगर वो नेकी का इरादा करे तो उसने नेकी का इरादा किया अल्लाह ने नेकी करने की कुवत पैदा कर दी अब वो नमाज पढ़ रहा है तो रुको सुजूद किसकी दी हुई कुवत से कर रहा है और उसको उस इरादे पर सवाब मिल रहा है अपने आप को बिल्कुल मजबूर समझना भी गलत है और अपने आप को बिल्कुल खुद मुख्तार समझना भी गलत है न हम बिल्कुल खुद मुख्तार हैं और न बिल्कुल मजबूर हैं एक तरह से इख्तियार भी है और एक तरह से हम हुक्म के जो पाबंद भी हैं बुरा काम करके तकदीर की तरफ नस्बत करना और मशीयत इलाही के हवाले करना बहुत बुरी बात है बल्कि हुक्म यह है कि जो अच्छा काम करे इसे मिन जान बिल्ला कहे और जो बुराई हो जाए उसको नफ्स की शामत तस्वुर करे नफ्स की नहूसत तस्वुर करे खुलासे कलाम यह हुआ कि हमारा तकदीर पर ईमान है और हम इसमें गौर और फिक्र और बहस करने के आदि नहीं है कायल नहीं है हम तकदीर के लफ्ज को आम अपने मुहावरात में इस्तेमाल नहीं करेंगे इन ताला अच्छा काम करने की कोशिश करें और बुरा काम हो जाए तो ये ना बोलें कि तकदीर में लिखा था तो हमने मजबूर होकर किया ये कहना बिल्कुल गलत है बल्कि अपने नफ्स की शामत तस्वुर करें और इसी तरह एक पाकिजा जिंदगी गुजारने की कोशिश करें अब इसके बाद जो हमारा उन्वान है वो फरिश्तों पर ईमान आमन तो बिल्ला व मलाइकती मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर फरिश्तों के मुतालिक पहली बात तो यह है कि फरिश्ते अल्लाह ताला की अजीम मखलूक हैं और इनकी बेअदबी जो है ये कुफर है इसलिए वही बात जो पहली नशिश में कही थी कि जब लफ्ज फरिश्ता हम अपनी गुफ्तगु में इस्तेमाल करें तो थोड़ी देर के लिए रुक जाए और थोड़ा सोचें कि कहीं फरिश्ते की तोहन तो नहीं हो रही या मजाक तो नहीं हो रहा फरिश्ते नूरी जिसम है यानी नूर से बने हैं और इनका जिसम नूरी है अल्लाह ताला ने इनको ये ताकत दी है जो शक्ल चाहें बन जाएं लेकिन फरिश्ते कुत्ते और खंजीर की शक्ल इख्तियार कभी नहीं करते यूं फरिश्तों को ताकत है कि वो जो शक्ल चाहें बन जाए कभी वो इंसान की शक्ल में जाहिर होते हैं और कभी दूसरी शक्ल में जबरील अमीन नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि के पास इंसानी शक्ल में कई मरतबा आए और आमतौर पर हजूर के जो सबसे खूबसूरत सहाबी थे हजरत दहिया कलबी ये खूबसूरत तरीन साहबा में शुमार होते थे हजरत कल कलबी तो हजरत जबरील अमीन अक्सर उनकी शक्ल पर जाहिर होते थे इसके अलावा आप दूसरी शक्लों में भी हजूर की खिदमत में आए यानी इससे मुराद वो शक्ल है जो लोगों को नजर आई कि हजरत जबरील अमीन आए हजूर से सवाल किए हजूर ने जवाब दिए तो हजूर का हर जवाब सुनकर कहते आपने सच कहा साहबा बड़े हैरान होते कि सवाल खुद करते हैं जवाब मिलता है तो कहते हैं हाँ, आपने सच कहा फिर जब वो तशरीफ ले गए जब वो चले गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जबरील थे तुम्हें दीन इस्लाम सिखाने के लिए आए थे पता चला कि उनका ये सवाल करना जहालत की वजह से नहीं था ये सवाल और जवाब की जो नशिश थी तुम्हें दीन सिखाने के लिए थे तो अल्लाह के नेक बंदों फरिश्तों अम्बिया के सवाल और जवाब जो हैं ये बसा अवकात हमें दीन सिखाने के लिए होते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु के जो सवाल जवाब हैं कि आपने शब महराज जबरील से फरमाया जबरील ये अजाब क्यों हो रहा है तो जबरील ने जवाब दिया अब ये फितरत है कि जब वो हदीस पढ़ते हैं अजाब का जिक्र हो जब हजूर का सवाल पढ़ते हैं तो ये एक इंसानी फितरत है कि सवाल सुन के जहन फौरन एक्टिव हो जाता है और वह जवाब सुनने के लिए मुतवजह होता है तो इस हदीस में सवाल जवाब इसलिए है ताकि हमें ये अजाबात याद हो जाएं कि बंदा अगर ये गुना करेगा तो ये अजाब होगा इससे हुजूर की ला इल्मी जाहिर नहीं होती फरिश्ते वही करते हैं जो अल्लाह का हुक्म होता है अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कुछ नहीं करते ना जानबूझकर ना सहवन ना खतान वो अल्लाह के मासूम बंदे हैं हर किस्म के सगीरा और कबीरा गुनाहों से फरिश्ते पाक हैं आमतौर पर जो किताबें शिरक की मजम्मत में लिखी गईं खास तौर पर वो किताबें जो अंग्रेजों के दौर में लिखी गईं उसमें एक खास पहलू है कि वो शिरक की मजम्मत करते हुए ऐसा अंदाज इख्तियार करते हैं कि अल्लाह के फरिश्तों अम्बिया और अलिया की तोहन हो जाए वो लिखते हैं जैसे इस्माइल देलवी ने अंग्रेजों के दौर में किताब लिखी जिसका उसने नाम रखा तकवीतुल ईमान तो उसका अंदाज देखें उसने लिखा जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसे किसी चीज का इख्तियार नहीं हम बताएं इस तरह तो हम अपने बाप का नाम भी नहीं लेते ना तो हजरत लगाया ना सईदना लगाया ना दरूद पाक जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसे किसी चीज का इख्तियार नहीं नवजुबिल्ला मिजाज तो ये अंदाज उन्होंने इख्तियार किया हर छोटा बड़ा अल्लाह के नजदीक चमार से ज्यादा जलील और रसवा है नऊजुबिल्ला मिजाल तो ये गंदा अंदाज है कि नाम शिर का लिया जा रहा है नाम तो तोहीद के बयान का लेकिन अगर आप उस किताब को पढ़ें तो ऐसा लगता है कि पूरी किताब में अंग्रेजों के एजेंडे को पूरा किया गया कि अल्लाह के एक बंदों की मोहब्बत मुसलमानों के दिलों से निकाल दी जाए तो यहां पर वजाहत तो होनी चाहिए ना कि इख्तियार की दो किस्में हैं एक जाती है एक अताई है एक जाती है एक अताई है तो जाती इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है और जाती इख्तियार किसी और के पास नहीं हाँ अल्लाह की अता से फरिश्ते और अंबिया बहुत ताकतें रखते हैं तो इसका इकरार होना चाहिए लेकिन अंदाज ऐसा इख्तियार किया कि बंदा पढ़े तो उसके दिल से अल्लाह के नेक बंदों की अकीदत मोहब्बत निकल जाए अब देखें फरिश्ते जो हैं इनके जो इख्तियारत हैं ये इख्तियारत भी कैसे हैं फरिश्तों के जो इख्तियारत हैं वो अल्लाह की अता से हैं फरिश्तों के इख्तियार क्या हैं अल्लाह की अता से इनको मुख्तलिफ खिदमतें सिपुर्द हैं बाज़ फरिश्तों के ज़िम्मे अम्बिया कराम की खिदमत में वही लाना किसी के मुतालिक पानी बरसाना किसी के मुतालिक हवा चलाना किसी के मुतालिक रोज़ी पहुँचाना किसी के ज़िम्मे माँ के पेट में बच्चे की सूरत बनाना किसी के मुतालिक बदन इंसान के अंदर तसरफ करना किसी के मुतालिक इंसान की दुश्मनों से हिफाजत करना किसी फरिश्ते के मुतालिक ये ड्यूटी है कि जहां पर अल्लाह का जिक्र हो रहा हो वहां उस मजमे को तलाश करके वहां पर हाजिर होना किसी फरिश्ते की ड्यूटी यह है कि वह इंसान के नाम अमाल लिखते हैं बहुत सारे फरिश्ते वो हैं जो वो दरबार रिसालत में हाजिर होते हैं किसी की ड्यूटी यह है कि मुसलमानों के सलात सलाम रसूलुल्लाह की बारगाह में अदब के साथ पेश करना किसी फरिश्ते की ड्यूटी यह है मुर्दों से सवाल करना किसी की ड्यूटी यह है कि रूह कब्ज करना किसी की ड्यूटी है अजाब करना किसी फरिश्ते की ड्यूटी है सूर फूकना और इसके अलावा बहुत सारे काम हैं कि जो फरिश्ते अंजाम देते हैं तो पता चला कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों के इसमें बहुत सारे काम लगाए बहुत सारे काम उन्हें दिए और अल्लाह ताला फरिश्तों का हरगिज मोहताज नहीं है फिर क्यों दिए जालिक फजल्लाशा ये अल्लाह का फजल है जिस पर चाहे वो उस फजल को नाजिल फरमाता है तो अल्लाह ताला ने उन्हें शर्फ दिया अल्लाह ने उन्हें मकाम और मरतबा दिया यानी इतना मकाम है कि सारे फरिश्ते तो बड़ी बात है एक फरिश्ते की भी अदना तरीन तोहीन ये कुफर है तो हमें बताएं ना कि जो तोहीद की बात कर रहा हो और फरिश्ते की तोहीन कर दे तो तोहीद तो क्या वो तो काफिर हो गया तो ये शैतान का अंदाज है तो ईद बयान हो शिर की मजम्मत हो लेकिन अल्लाह ने जो फरिश्तों को अम्बिया को और अलिया को जो ताकत मकाम मरतबा दिया है उसे भी तस्लीम किया जाए तो मैंने अर्ज किया कि अंग्रेजों के दौर में इस्माइल दहलवी ने जो किताब लिखी तकवीत ईमान नाम रखा उसमें अंदाज कैसा है अंदाज यह है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसे किसी चीज का इख्तियार नहीं हालांकि फरिश्तों को अल्लाह ताला ने कितने इख्तियार दिए अम्बिया को भी इख्तियार दिए अलिया को भी इख्तियार दिए तो यहां पर वजाहत होनी चाहिए एक तो ये अंदाज बिल्कुल बेअदबी वाला है कि ना तो हजरत न सैदना न दरूद पाक जिसका नाम मोहम्मद याली है इस तरह तो हम अपने बाप का नाम भी नहीं लेते कितने अदब से लेते हैं और जो रसूलुल्लाह की अदना तरीन तोहीन कर दे वो काफिर है और जो उसके कुफर में शक करे वो भी काफिर है हमने किसी मौलवी का कलमा नहीं पढ़ा हमने कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ा कबर में रसूलुल्लाह काम आएंगे कयामत में रसूलुल्लाह काम आएंगे आप सोचे ना कि ये जुमला किस कदर गुस्ताखाना है फिर इख्तियार की दो किस्में होती है एक इख्तियार जाती है और एक अताई है तो जाती इख्तियार अल्लाह का है और अम्बिया अलिया और फरिश्तों को जो इख्तियार हैं वो अल्लाह की अता से हैं और बीजनिल्ला हैं लेकिन इसमें तो कह दिया गया कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसे किसी किस्म का इख्तियार नहीं तो इस तरह के जुमले जो हैं असल में बज़ाहिर महसूस ये होता है जी हम तोहीद की बात कर रहे हैं लेकिन अंग्रेज़ों का एजेंडा पूरा किया गया कि तोहहीद का नाम लेकर अल्लाह के नेक बंदों की मोहब्बत लोगों के दिलों से निकाल दी गई तो फरिश्तों को अल्लाह ताला ने बहुत सारी खिदमतें अता फरमाई हैं अल्लाह इनका मोहताज नहीं मगर अल्लाह ने फजल फरमाया उन्हें मकाम और मरतबा अता फरमाया फरिश्ते रोजी देते हैं फरिश्ते शिफा देते हैं फरिश्ते रूह कब्ज करते हैं मौत देते हैं इंसान के बदन में माँ के पेट में जान डालते हैं अब बताइए जान डालने वाला अल्लाह रूह कब्ज करने वाला अल्लाह मौत देने वाला अल्लाह शिफा देने वाला अल्लाह ये रोजी देने वाला अल्लाह है तो फरिश्ते देते हैं मतलब ये बीजनिल्ला देते हैं क्या माना है बीजनिल्ला देते हैं तो जब ये अकीदा फरिश्तों के मुतालिक है तो अल्लाह के नबियों और अलिया के बारे में जो ताकत मुसलमान मानते हैं सब में अकीदा यही है कि वो ताकत कैसे है जनाब जोर से बोलें बीजन ला है अल्लाह की अता से है और इसमें शिरक की कोई बात नहीं अगर शिरक होता तो कुरान कभी फरिश्तों अलिया और अम्बिया की शान न बताता फरिश्ते न मर्द हैं न औरत उनकी तादाद वही जाने जिसने उनको पैदा किया और उसके बताए से उसका रसूल जाने चार फरिश्ते बहुत मशहूर हैं जिब्राइल मिकाइल इसराफील इसराइल और ये सब फरिश्तों पर फजीलत रखते हैं किसी फरिश्ते के साथ अदना गुस्ताखी कुफर है जाहिल लोग अपने किसी दुश्मन को देख कर या ऐसे शख्स को देख कर जिससे वो नफरत करते हों कहते हैं मलकुल मौत आ गया या कहते हैं इसराइल आ गया ये करीब बकल मय कुफर है फरिश्तों के वजूद का इनकार या ये कहना कि फरिश्ते नेकी की कुवत को कहते हैं और इसके सिवा कुछ नहीं ये दोनों बातें कुफर हैं जैसे कि सर सैयद अहमद खान के जिसे आप मैट्रिक और कॉलेज में उन्हें हीरो के तौर पर पढ़ते हैं इन्होंने भी अंग्रेजों के दौर में कुरान की एक तफसीर लिखी उस तफसीर में उन्होंने हर चीज का माना बिगाड़ कर रख दिया जहां पर फरिश्ते का जिक्र आया तो कहा फरिश्ते से मुराद है इंसान अच्छे इंसान को फरिश्ता कहते हैं और बुरे इंसान को जिन कहते हैं जिन और फरिश्ता कोई अलग मखलूक नहीं तो ये कुफर है क्योंकि फरिश्ता ये अलग मखलूक है इंसान अलग मखलूक है और जिन्नात अलग मखलूक है तो ये कहना कि फरिश्ता नेकी की कुवत है और जिन जो है वो बदी की कुवत है और ये इंसान ही होते हैं ये अकीदा कुफर है तो उन्होंने यकीदा बयान किया और अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपनी किताब में जहाँ पर उन्होंने सर सैद का तस्करा किया है उन्होंने सर सैद के कारनामे भी लिखे और अल्ताफ़ हुसैन हाली ने फिर यह भी लिखा कि अफसोस का मकाम यह है कि सर सैद अहमद खान के अकायद जो है कुफरिया थे वो जन्नत का इनकार करते थे जहन्नम का इनकार करते थे वो फरिश्तों का इनकार करते थे वो जिन्नात का इनकार करते थे वो मुआजात को नहीं मानते थे वो कहते थे कि हजरत मूसा सलाम का जो असा था वो सांप नहीं बना था वो इतना बड़ा था और उसमें इतनी लचक थी कि लोगों को लगता था वो सांप था नवजुबिल्ला वो हजरत ईसा सलाम के मौजाद का इनकार करते थे और जो है ना हजरत ईसा सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया आपने मरीजों को शिफा दी तो वो इसमें भी झूठी तावील करते थे अल्लाह तबारक का ताली हमें अकायद इस्लामिया का तहफ़ अता फरमाया अब लोगों के लिए बड़ा मसला है लोग कहते हैं जी सर सैद अहमद खान की तो बड़ी शान है तो भाई आपने जो भी इसका नाम पढ़ा लेकिन जब उनके अकायद इस्लाम के खिलाफ हैं तो जो गलत है उस गलत को गलत तो मानना पड़ेगा चाहे उसका कितना भी नाम हो चाहे उन्होंने अगर फर्ज कोई खिदमत भी की हो और कहते हैं जी तालीम मुसलमानों में आम किया तो तालीम आम करना अगर ये खिदमत उन्होंने की है और वाकई उन्होंने दिल से अगर खिदमत की हो तो वो अपनी जगह पर है लेकिन जो इनके कुफरिया अकायद हैं हम उनको सही तो नहीं मान सकते जो गलत है वो गलत है क्योंकि मौजाद का इनकार करना यह भी कुफर है तो अल्लाह ताला से ये खास दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ईमान की सलामती अता फरमाए और हम ये ना देखें कि कौन मौलवी है कौन शेख है कौन पीर है कौन हमारा दोस्त है किससे हमें मोहब्बत है बस जो रसूलुल्लाह की अदनासी भी गुस्ताखी करे जो अल्लाह की गुस्ताखी करे जो फरिश्तों की गुस्ताखी करे और इस तरह की बातें करे अब हम उसे अपने दिल से निकाल दें और जो उनसे मोहब्बत करता हो उसे भी अपने दिल से निकाल दें क्योंकि कयामत के दिन कोई काम नहीं आएगा सब रसूलुल्लाह की बारगाह में शफात के सवाली बनकर जाएंगे आगे जो बयान है वो जिन्नात का बयान है वह इनशालाजल हम आइंदा नशीस में समाप्त करेंगे आमन तो बिल्ला व मला इकती व कुतुबी तीसरे नंबर पर किताबें ये ईमान में जिक्र की जाती हैं व रसूल ही और फिर अम्बिया और रसूलों का जिक्र है तो हम आते हैं अम्बिया रसुल और किताबों के बयान की तरफ देखें ये किताब जो मेरे सामने है उसका नाम है बहार शरीयत और ये किताब आला हजरत इमाम अहल सुन्नत इमाम अहमद रजा रहमा के जो खलीफा हैं सदर शरिया बदर तरीक़ा हजरत अलामा मौलाना मुफ्ती अमजद अली खान ने लिखी है आला हजरत पर ये इल्ज़ाम बदअीदा लोग लगाते हैं कि आला हजरत हजूर को बशर नहीं मानते हालांकि आला हजरत इमाम अहल सुन्नत ने और आपके खलफा ने जा बजा यह लिखा है कि रसूलुल्लाह बशर हैं लेकिन मेरे और आप जैसे बशर नहीं अफजल बशर हैं खैरुल बशर हैं उनसे कोई मुनासिबत नहीं हो सकती हाँ हजूर की तख्लीक नूर से हुई है हुजूर की तख्लीक किससे हुई है नूर से हुई है और आप नूर भी हैं और बशर भी हैं जो बशरीत का इनकार करे वो भी काफिर है तो इसलिए ये इल्ज़ाम के हुजूर को आला हजरत बशर नहीं मानते ये इल्ज़ाम झूठा लगाया गया लानतुल्लाकाजिबीन झूठों पर खुदा की लानत हो इसी तरह आला हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं भी आलिमुल गैब नहीं मानते अब कहते हैं आलिमुल गैब का मतलब यह है कि गैब को जाती तौर पर जानने वाला और गैब को जाती तौर पर कौन जानता है अल्लाह जानता है तो आप ये जरूर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने गैब के खजाने अता फरमाए और ये कुरान में भी और आदिश तैयबा में भी है लेकिन आप ये फरमाते हैं कि आलिमुल गैब ये लफ्ज अल्लाह की जात पर बोला जाएगा क्योंकि इसके माना है जाती तौर पर हमेशा हमेशा से गैब को जानने वाला इसी तरह आला हजरत पर तीसरा इल्जाम ये लगाया जाता है कि वो हजूर सल्लाह वसलम को जिसम के साथ हर जगह मौजूद मानते हैं ये भी इल्ज़ाम झूठा है कोई आला हजरत का एक हवाला पेश नहीं कर सकता कि आला हजरत ने कहा हो कि हजूर सल्लाह वसलम को मैं जिसम के साथ हर जगह मौजूद मानता हूँ अला हजरत इमाम सुन्नत ने क्या अकीदा बयान किया कि रसूल सल्लाह वसलम अपनी कब्र अनवर में जलवा फरोज हैं और सारी कायनात आपके सामने हाजिर है जैसे हदीस बाग में है कि मेरे सामने दुनिया और जो कुछ दुनिया में हो रहा है और जो होने वाला है कयामत तक वो इस तरह अल्लाह ने पेश कर दिया कि जैसे हथेली पर राय का दाना होता है तो सारी कायनात हुजूर की बारगाह में हाजिर है और हुजूर उसे नाजिर हैं देखने वाले हैं क्या अकीदा है हाजिर नाजिर का सारी कायनात रसूलुल्लाह के सामने हाजिर है और रसूलुल्लाह उसे देखने वाले नाजिर हैं ये वो मतलब आला हजरत का अकीदा आला हजरत ने यह नहीं बयान किया कि हजूर जिसम के साथ हर हर जगह हर वक्त मौजूद हैं ये अकीदा आला हजरत ने कहीं बयान नहीं किया तीसरा वो कहते हैं कि आला हजरत ये कहते हैं कि वो अल्लाह से भी ज्यादा मुख्तार कुल हैं ये आला हजरत का कहीं अकीदा कोई साबित नहीं कर सकता आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के इज़न से मुख्तार हैं अल्लाह की मशीयत के बगैर पत्ता भी हिल नहीं सकता तो जबरील अमीन हो हजरत इसराइल हो हजरत मिकाइल हो रोजी दें बारिश बरसाएं मौत दें तो ये सारी ताकतें कैसे हैं बताइए बीजनिल्ला तो इसी तरह रसूलुल्लाह को जो अल्लाह ने ताकतें दी हैं वो ताकतें हैं जाती नहीं अताई हैं और ये बीजनिल्ला है जब इतना साफ अकीदा है तो झूठ बोलने वालों पर यह कहना चाहिए ना कि अल्लाह की लानत हो और उन्होंने ये किताब एक किताब लिखी अलबरेलविया अरबी में और हिंद उन्होंने ये किताब अरब में फैला दी और उसके अंदर ये भी लिखा जब हम मुल्क शाम में गए तो वहां के ओलमा को जब आला हजरत की किताबें पेश की उन्होंने आला हजरत की किताबें अरबी में पढ़ी तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ और कहा कि इतना लोग झूठ बोलते हैं कि जिनके अकायद इतने साफ हैं हर मसले में और आला हजरत ने जो भी मसला बयान किया वो कुरान और हदीस की दलील के साथ बयान किया अपनी तरफ से कोई मसला आपने गढ़ा नहीं तो अब देखें आला हजरत के खलीफा सदर शरिया क्या लिख रहे हैं नबी उस बशर को कहते हैं क्या अल्फाज हैं नबी उस बशर को कहते हैं जिसे अल्लाह तदायत के लिए वही भेजी हो और रसूल बशर में भी होते हैं और फरिश्तों में भी रसूल होते हैं तो जबरील अमीन ये फरिश्तों के रसूल हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो खैर सारी कायनात के रसूल हैं लेकिन बाकी जो रसूल आए 313 रसूल वो इंसानों में मबूस किए गए फिर दूसरा अकीदा अम्बिया सब बशर थे क्या अल्फाज हैं अम्बिया सब बशर थे और मर्द ना कोई जिन नबी हुआ ना कोई औरत पुरानी मजीद फुकान हमीद की आयत का हवाला है सूर नाहल आयत नंबर फोर्टी थ्री वमा अरसलना मिन कबली का इल्ला रिजाल नूही इलेहिम हमने आपसे पहले जितने भी नबियों को मबूस किया रिजालन वो सारे मर्द थे तो कोई औरत नबी या रसूल हरगिज नहीं बने नबी होने के लिए उस पर वही होना जरूरी है चाहे वो वही फरिश्ते के वास्ते से हो या डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से नबी पर हो अब जो डायरेक्ट वही होती है उसमें से एक तरीका ख्वाब का है कि ख्वाब में जो दिखाया जाता है वो भी जो नबी के लिए वही इलागी है बहुत से नबियों पर अल्लाह ताला ने सहीफे और आसमानी किताबें उतारी उनमें से चार किताबें मशहूर हैं बच्चे बच्चे को याद है कि तोरेद हजरत मूसा सलाम पर जबूर हजरत दाऊद सलाम पर इंजील हजरत ईसा सलाम पर कुरान अजीम के सबसे अफजल किताब है सबसे अफजल रसूल हजूर पुरूर अहमद मुशतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अब एक बहुत अहम मसला कुरान सबसे अफजल किताब है सवाल कि तोरेद भी अल्लाह का कलाम इंजील भी अल्लाह का कलाम जबूर भी अल्लाह का कलाम और कुरान भी अल्लाह का कलाम तो ये कैसे कि अल्लाह का कलाम एक अफजल और बाकी दूसरे अफजल ना हो कुरान सबसे अफजल किताब है तो उसका जवाब देते हैं कि कलाम इलाही में बाज का बास से अफजल होना उसका ये माना है कि हमारे लिए इसमें सवाब ज्यादा है कुरान अफजल किताब है मतलब क्या हमारे लिए इसमें सवाब ज्यादा है वरना अल्लाह एक उसका कलाम एक तो उसके कलाम में अफजल और मफजूल की कोई गुंजाइश नहीं हाँ सवाब के एतबार से कुरान जो है उसमें हमें सवाब ज्यादा मिलता है सब आसमानी किताबें और सहीफे सच्चे हैं हक हैं सब अल्लाह के कलाम हैं किसी एक का भी इनकार कुफर है उनमें जो कुछ इर्शाद हुआ सब पर ईमान जरूरी है मगर ये बात अलबत्ता हुई कि पिछली किताबों की हिफाजत अल्लाह ताला ने उम्मत के सिपुर्द की थी उनसे इसकी हिफाजत न हो सकी कलाम इलाही जैसा उतरा था उनके हाथों में वैसा ही बाकी ना रहा बल्कि उनके शरीरों ने तो ये किया कि तोरेत जबूर इंजील और दीगर सहीफों में रद्दो बदल कर दिया यानी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक घटा बढ़ा दिया लिहाजा जब कोई बात इन किताबों की हमारे सामने पेश हो तो अगर वो हमारी किताब के मुताबिक है हम उसकी तस्दीक करेंगे और अगर मुखालिफ है तो यकीन जानेंगे कि ये उनके रद्द बदल का नतीजा है और अगर मुआफ़त और मुखालफत कुछ मालूम ना हो तो हुक्म है कि हम ना इसकी तस्दीक करेंगे और ना ही झुटलाएंगे बल्कि हम कहेंगे आमन तो की व मलाइकती व कुतुबी व रसुली हम अल्लाह की सारी किताबों को मानते हैं तो क्या मालूम हुआ कि अगर तोरेत की कोई बात हमारे सामने आए जो कुरान के मुताबिक है तो हमने उसकी तस्दीक कर दी अगर कोई बात कुरान के मुखालिफ है यानी तोरेत की कोई बात वो दिखाए जिसमें शिर की दावत दी गई हो तो हम कहें कि अल्लाह शिर की दावत तो नहीं दे सकता तो लिहाजा ये इन लोगों ने रद्द बदल किया लेकिन कोई ऐसी बात हो कि जिसमें हमें समझ में ना आए कि ये कुरान के मुताबिक है या कुरान के मुखालिफ है तो हम खामोशी इख्तियार करेंगे और हम कहेंगे हमारा अल्लाह की हर किताब पर ईमान है इसके बारे में हम कोई तबसरा नहीं करते कुरान की जो हिफाजत है वो अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे में ली चूंकि ये दीन हमेशा रहने वाला है लिहाजा कुरान अजीम की हिफाजत अल्लाह ने अपने ज़िम्मे रखी फरमाता है इन्ना नहनु नजल जिक्र व इन्ना लहू लाफिजून सूर हिजर आयत नंबर नौ चौदवें पारे का पहला रुकू बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे लिहाजा इसमें किसी हर्फ या नुक्ते की कमी बेशी नामुमकिन है अगरचे तमाम दुनिया इसके बदलने पर जमा हो जाए तो जो ये कहे बाद लोग जो अली अली अली अली और हुसैन हुसैन हुसैन करते हैं तो उनमें से बाज का अकीदा है और वो तकीयतन अपने अकीदे को छुपाते हैं लेकिन इनकी किताबों में ये लिखा है कि कुरान के चालीस पारे थे दस पारे जो है उस्मान गनी की बकरी खा गई नवजुबिल्लाजाल तो ये अकीदा कुफर है जो ये कहे कि इसमें के कुछ पारे या सूरतें या आयतें बल्कि एक हर्फ भी किसी ने कम कर दिया या बढ़ा दिया या बदल दिया वो बिल्कुल काफिर है वो यहां तक लिखते हैं कि कुरान में 700 आयतें ऐसी थी जिसमें अहल बैत और हजरत अली की शान थी तो हजरत सिद्दीक अकबर हजरत उमर और हजरत उस्मान गनी ने उसको हटा दिया तो जो ये अकीदा रखे वो काफिर है जिसने ये कहा कि कुरान में रद्द बदल हो गया उसने कुरान की इस आयत का इनकार कर दिया कुरान क्या फरमाता है इन्ना नाहनो नजल न जिक्र व इन्ना लहू लहाफिजून बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे तो अब इसमें किसी किस्म का रद्द बदल नहीं हो सकता अल्लाह के रसूलों और किताबों के ऊपर जो हमारा मौजू है यानी किताबों पर ईमान और रसूलों पर ईमान ये मौजू इन ताला आइंदा नशिश में हम मुकम्मल करेंगे और फिर जिन्नात के बयान के बाद आखरत पर ईमान वल यौमिल आखिर आखरत पर ईमान के मुतालिक ज़रूरी अकायद बयान होंगे अल्लाह रबालमीन हमें ईमान पर सलामती अता फरमाए हकीकत यह है कि हमारी कादियानियों से गुफ्तु हुई है जो साहबा कराम के बेअदब हैं उनसे भी गुफ्तु हुई है इसी तरह जो अलिया के बेअदब हैं रसूलुल्लाह के बेअदब हैं जो रसूलुल्लाह की शान में जिन्होंने सही गुस्ताखियां की हैं उनसे भी हमारी गुफ्तगु हुई है लेकिन तमाम गुफ्तगु का निचोड़ यह है वमा तोफ़ीक बिल्ला तोफ़ीक देने वाला अल्लाह ताला है यहां तक कि सब कुछ मान लेते हैं कि हाँ ये गुस्ताखी है बेअदबी है फिर भी हिदायत नसीब में नहीं होती तो नहीं मिलती अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें हिदायत पर साबित कदमी नसीब फरमा यहां तक कि कादियानी उनके मजहब पर कोई उनके पास कोई दलील नहीं सारे दलाइल से आप कायल कर दे लाजवाब हो जाएंगे लेकिन दूसरे दिन फिर कादियानियों में बैठे होंगे इसकी वजह क्या है वजह यही है कि दिल पर जब मोहर लग जाती है तो हिदायत नहीं मिलती अल्लाह हमारे दिलों को नरम फरमाए और हमें हिदायत पर साबित कदमी नसीब फरमाए बुरी सोबत से बुरी दोस्ती से बुरे ख्याल से बुरी फिक्र से बुरी सोच से महफूज फरमाए इस दुआ को हम मिलकर दोहराते हैं जो रसूलुल्लाह ने हमें तालीम फरमाई या मुकल्लिबल कुलूब ए दिलों को फेरने वाले सबित कलबी अला दीनिक मेरे दिल को तेरे दीन पर साबित कदमी अता फरमा या मुकल्लिबल कुलूब सबित कलबी على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ए मालिक ए परवरदिगा तेरे बंदे तेरी बंदियां अपनी नींद की कुर्बानी देकर अपने काम काज छोड़कर तेरी मोहब्बत में तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दीन इस्लाम की मोहब्बत में अपने ईमान की हिफाजत के लिए तहफ़ ईमान नशिस में हाजिर हुए सबकी हाजिरी कबूल फरमा जो कदम इस राह में बढ़े और जो लम्हात इस राह में खर्च किए ए अल्लाह हर हर कदम के बदले हर हर लम्हे के बदले दोनों जहां की करोड़ों रहमतें बरकतें नेमतें अता फरमा अल्लाह इस नशिश में आना ऐसा कबूल फरमा कि हमें सही इस्लामी अकायद पर साबित कदमी अता फरमा ए अल्लाह तेरी ज़ात व सिफात पर हमें कमा हक हो ईमान लाने की तोफ़ी अता फरमा इसी पर साबित कदमी अता फरमा तेरी मोहब्बत अता फरमा तेरा खौफ अता फरमा ए अल्लाह ए परवरदिगा तेरे हबीब की मोहब्बत अता फरमा जो तेरे हबीब से मोहब्बत करते हैं उनसे हमें मोहब्बत अता फरमा और जिन लोगों ने तेरे हबीब की तेरी तेरे नेक बंदों की गुस्ताखी बेअदबी की अल्लाह उनकी सोहबत से उनकी दोस्ती से उनकी गैदरिंग से उनकी बातें सुनने से हमें महफूज फरमा ईमान की सलामती अता फरमा ईमान में पुख्तगी अता फरमा ए अल्लाह मालिक परवरदिगार तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की शान को इस तरह बयान किया कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक तमाम लोगों से बढ़कर और अपनी जान से भी बढ़कर वो मुझे महबूब न जाने ए अल्लाह हमें सबसे ज्यादा तेरे हबीब से मोहब्बत अता फरमा ए मालिक परवरदिगार तेरे हबीब की मोहब्बत तेरी मोहब्बत का जरिया है ए मालिक तेरे हबीब की हमें ऐसी सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमा कि उस मोहब्बत के सदक़े में तू हमें अपना कुर्ब भी अता फरमा اللهم अल्लाह العفو नसअलकलआफ़ा वलआफ़ियत वलमुआफ़ात في الدين والدنيا वलआखिरा اللهم अशगिल جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك وأشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم آمين اے मालिक ए परवरदिगार हमारे जिस्म के हर हर उज को हमेशा तेरी इबादत करने की तौफीक अता फरमा हमारे दिल में तेरी याद और तेरी मार्फत अता फरमा हमें सालिहीन की तरह जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा उन पर जो इनाम की बारिशें हुई उसमें से हमें भी हिस्सा अता फरमा वकुल्लना कमा कुंत तलहम ए मालिक जिस तरह तू उनका हो गया हमारा भी हो जा ए मालिक ए परवरदिगार हमें दोनों जहाँ की भलाइयाँ नसीब फरमा जहन्नम के अजाब से महफूज फरमा ए करीम परवरदिगार जो दुआएं हमने की हैं जो आइंदा करेंगे उनमें से जो हमारे हक में बेहतर हो सब कबूल मंजूर फरमा करीम परवरदिगार आइंदा तहफुज ईमान नशिस्त में हमें खुद भी आने और अपने साथ कम अज कम एक फर्द को लेकर आने की तोफ़ी अता फरमा करीम परवरदिगार हमें इस नशिश की दावत आम करने की तोफ़ी अता फरमा सारी दुआएं तमाम मुसलमानों के हक में कबूल मंजूर फरमा इन नबी या अय्युहल्लदीन आमनु सल्लु सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात वसलाम अलैक या सय्यदी या रसूल अल्लाह सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलाम अलल मुरसलीन वलहमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन